कह दो क्या मैं तुम्हें वो चीजें बताऊं जो इन सब से कहीं बेहतर हैं जो लोग तक्वा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा बीवियां हैं और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी है और तमाम बंदों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है